बेशक वो लोग सजा के लायक हैं जिन्होंने कुफर अपना लिया है और जो दूसरों को अल्लाह के रास्ते से और उस मस्जिद हराम से रोकते हैं जिसे हमने लोगों के लिए ऐसा बनाया है कि उसमें वहां के बाशिंदे और बाहर से आने वाले सब बराबर हैं और जो कोई शख्स उसमें जुल्म करके टेढ़ी राह निकालेगा हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे